ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है शॉर्टवेव 25 मीटर बैंड में ग्यारह हजार नौ सौ पांच किलोहर्ज और श्रीलंका में एक सौ सात दशमलव तीन एफएम पर बहनों भाइयों अब मैं आपको उन्नीस का एक बड़ा ही नायाब बड़ा ही रेयर गाना सुनवाऊंगा जो मैंने भी कई वर्षों से नहीं सुना जरा सुनिए तो शास्त्रीय संगीत की कितनी प्यारी खुशबू है इस गीत में बंद महके देखो लहके है अमीन अंकल इसे सुनकर तो गीतमाला की छाव में भी बाहर आ गए मेरा दिल भी महक उठा है गीतमाला जी अच्छा अमीन अंकल अब आप किसी और फिल्म स्टार से नहीं मिलवाएंगे हमें अरे अभी मिलवाऊंगा और ऐसे स्टार से मिलवाऊंगा जिसे सुनकर आजकल के नौजवान भी झूम उठेंगे मगर वो सुपरस्टार आएंगे इस छाव वाले गीत के बाद जिसमें एक प्यार भरा दिल था जो टूट गया खिलौना टूटे तो सचमुच दिल की दुनिया लुट जाती है ऐसा ही एक खिलौना एक छोटी सी टॉय मोटर कार यानी एक डिंकी कार बचपन में हुआ करती थी हमारे सुपरस्टार शाहरुख खान के पास अरे आप शाहरुख खान की आवाज सुनवाने वाले हैं अमीन अंकल हाँ और उस इंटरव्यू से सुनवाऊंगा जो मैंने शाहरुख की एक शुरू शुरू की फिल्म के जमाने में रिकॉर्ड किया था जिसमें शाहरुख ने कहा था बचपन में मेरे पास एक गाड़ी थी जिसे लोग डिंकी कार्स कहते हैं तो पांच साल छह साल की उम्र में वो टूट गई जब मैं पंद्रह साल का हुआ तो मुझे हंसी आती थी कि मैं उस पांच साल की उम्र में बहुत रोया था कि वो टूट गई वैसे ही जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो फेजेस होती हैं पंद्रह साल की उम्र में ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं इस वक्त मेरा फिल्म का करियर बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हो सकता है पंद्रह साल के बाद जब मैं लुक बैक करूं उस पर तो मुझे शायद हंसी आए कि मैं क्यों रोया उस टूटी हुई गाड़ी पर तो ये सब फेजेज हैं ये फिल्म करियर भी इस वक्त एक गाड़ी है जो पच्चीस छब्बीस साल की उम्र में मेरे पास आई है और उससे मैं खेलूंगा खुश रहूंगा जिस दिन टूट जाएगी तो रोऊंगा नहीं ओए होए Shahrukh Khan so sweet so sweet अरे अरे ये ये इस तरह मटक मटक कर शाहरुख खान इस चर्च ट्वीट कहने से कोई फायदा नहीं होगा गीतमाला जी क्या मतलब भाई जिस तरह तुम मुझे अमीन अंकल कहती हो ना उसी तरह शाहरुख तुम्हें जरूर गीतमाला आंटी कहकर पुकारेगा रहने दीजिए रहने दीजिए गीतमाला कभी आंटी नहीं बनती गीतमाला हमेशा जवान थी और जवान रहेगी और शाहरुख खान के लिए 1959 की छाव का ये गीत भी गाएगी आपको जो करना है कर लीजिए अपने सैया के नैना लड़े हमारे कोई है अपने अपने सैया से अपने रसिया से अपने बलमा से नैना लड़ई बे हमारे कोई ओके ओके गीत माला अब झूमना जामना बंद हाँ अब जरा ध्यान देकर सुनो ध्यान अब एक और दिल को छू लेने वाला गीत आने वाला है जो आजकल बहुत कम सुनाई देता है उन्नीस की गीतमालाओं में भी ये ज्यादा नहीं बच पाया इसके संगीतकार शुरू ही से बड़े बड़े गुणी थे साहब मगर सही मानों में उनकी किस्मत जो है वो सन 1960 में जाकर बिजली की तरह कड़क कर चमकी मगर उससे पहले भी उनकी तर्जें हमेशा यादगार सदाबहार हुआ करती थी एक तो वही उन्नीस ही में आकर छाव में रह गई थी तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं जो सच था उसे एक फसाना बनाना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं up बिगड़ी हुई जिंदगी को बसाना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं तेरे प्यार को इस तरह से बुलाना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं में न आया के हर एक खुशी से ये दिल आज बेजार क्यों हो गया है तेरे गम में बहते हुए आंसुओं से न जाने हमें प्यार क्यों हो गया है के भूले से भी अब कभी मुस्कुराना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं तेरे प्यार को इस तरह से बुलाना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं जो सच था उसे एक फसाना बनाना ना दिल चाहता है ना हम चाहते हैं सचमुच अमीन अंकल ऐसे मीठे सुहाने दिल में समाने वाले गीतों को कौन भुला सकता है मगर भाई अब उन्नीस की छाओ से आने वाला है मीठा सुहाना नहीं बल्कि बड़ा जोरदार मजेदार लूट मार वाला गीत अरे बाप अरे नाना घबराओ नहीं गीत वाला ये रेडियो सुनने वाले डेरिंग डैशिंग नौजवानों की तरफ से बजेगा तुम्हारे यानी गीत माला के हुस्न की शान में आ, मतलब है कि देखो रेडियो में जो हुस्न नजर नहीं आता ना वो लोग मन की आंखों से देख लेते हैं और लुट जाते हैं हमें तो लूट लिया मिलके हुसन वालों ने कल कल बालों ने गोरे गोरे गालों ने हमने तो लूट लिया मिलके हुसन वालों ने काले काले बालों ने गोरे गोरे गालों ने नजर में शौकिया और बचपना शरारत में अदाएं देख के हम फंस गए मोहब्बत हम अपनी जान से जाएंगे जिनकी उल्फत में यकीन है कि ना आएंगे वो ही मैयत में खुदा सवाल करेगा अगर कयामत में तो हम भी कह देंगे हम लुट गए शराफत में हमें तो लूट लिया मिलके हुसन वालों ने काले काले बालों ने गोरे गोरे गालों ने हमें तो लूट लिया मिलके हुसन वालों ने काले काले बालों ने बुरे बुरे गालों ने जमाना इनको समझता है नेकवर मासूम मगर ये कहते हैं क्या है किसी को क्या मालूम इन्हें न तीर न तलवार की जरूरत है शिकार करने को काफी निगाहें उल्फत है हसीन चाल से दिल पाए माल करते हैं नजर से करते हैं बातें कमाल करते हैं हर एक बात में मतलब हजार होते हैं ये सीधे साधे बड़े होशियार होते हैं खुदा बचाए हसीनों की तेज चालों से पड़े किसी कभी पाला न हुस्न वालों से हमें तो लूट लिया मिलके हुसन वालों ने काले काले बालों ने गोरे गोरे गालों ने हमें तो लूट लिया मिलके हुसन वालों ने काले काले बालों ने गोरे गोरे गालों ने हुसन वालों में मोहब्बत की कमी होती है चाहने वालों की तकदीर बुरी होती है उनकी बातों में बनावट ही बनावट देखी शर्म आँखों में निगाहों में लगावट देखी आग पहले तो मोहब्बत की लगा देते हैं अपने रुखसार का दीवाना बना देते हैं दोस्ती करके फिर अनजान नजर आते हैं सच तो ये है कि बेईमान नजर आते हैं माओ से कम नहीं दुनिया में मोहब्बत इनकी जिंदगी होती है बर्बाद बदौलत इनकी दिन बहारों के गुजरते हैं मगर मर मर के लुट गए हम तो हसीनों पे भरोसा करके हमें तो लूट लिया मिलके हुसन वालों ने काले काले बालों ने गोरे गोरे बालों ने हमें तो लूट लिया मिलके हुसन वालों ने काले काले बालों ने गोरे गोरे बालों ने अरे रे रे भाई इस कवाली ने गीत माला जैसी हसीनाओं की तारीफ करने के बजाय टांग खिंचाई कर दी <laughs> तभी तो देखिए हमारी गीत माला कैसे मुंह फुलाए मुंह चढ़ाए बैठी हैं अरे गीत माला <laughs> बोल ही नहीं रही है तो <laughs> चलिए बहनों भाइयों शुरू करते हैं झलके यानी 1959 के नंबर 24 से लेकर नंबर 17 वाले हिट गीतों की झलकें तो नंबर 24 की झलक सुनने के लिए खास तौर पर हमारे सुनने वाले छोटे बड़े मर्द जो है ना वो जरा अपनी दाई कलाई आगे बढ़ाएं राखी बनवा ले भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना देखो ये नाता निभाना निभाना भैया मेरे और छोटी बहन के बाद अब आ जाइए लव मैरिज के उस गीत पर जिसने पहनान नंबर तेईस पर नए स्टाइल के संगीत का खूब मजाक उड़ाया था खूब पीट कर तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना यार मेरे मत बुरा मान Ameen, uncle. आपका भी यही ख्याल है आजकल के नए संगीत के बारे में नहीं नहीं वैसे तो आज का संगीत भी अच्छा है खास तौर पर आजकल के जेट स्पीड के जमाने के लिए लेकिन एक बात जरूर है कि हमारे उस गोल्डन पीरियड वाले फिल्म म्यूजिक में जो मीठी सी कशिश हुआ करती थी ना वो कभी कभी आज के बच्चों और नौजवानों को भी बहुत पसंद आती है जैसे देखिए आजकल गीतमाला की छाओं का मजा जमशेदपुर के असीम कुमार के साथ साथ उनका दस साल का बेटा हिमकर भी खूब ले रहा है अच्छा वेरी गुड हाँ, खैर चलिए अब हम चलते हैं 1959 की बाईसवीं पादान के गीत की झलक के पास उड़कर तो और और ये आई झलक 1959 की हिट पायदान नंबर 21 से ये मेरा बड़ा फेवरेट गीत हुआ करता था साहब चांद था मुखड़ा क्यों शर्माया चांद था मुखड़ा क्यों शर्माया आँख और भी चांद था मुखड़ा क्यों शर्माया अरे भाई गीत वाला फिल्म इंसान जाग उठा का ये गीत सुनकर तुम्हारा चांद सा मुखड़ा तो बिल्कुल नहीं शर्माया अरे अब अंकल के सामने क्या शर्माना <laughs> चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं अच्छा अब उस साल के गीत नंबर 20 की मिनी झलक सुनिए बहनों भाइयों गरीबों पर हर जगह पड़ती हुई मुसीबतों के आधार पर बनी फिल्म फिर सुबह होगी का गीत अरब हमारा हिंदू था हमारा रहने को घर नहीं है सारा जहाँ हमारा हिंदुस्तान हमारा अरे भाई गीत वाला हम्म। इस गीत से तो मुझे पंकज मलिक का एक बड़ा पुराना गीत याद आ गया कौन सा वो था ना कि हमें हुआ है देश निकाला घर वालों का एक ही घर बिन घरों के घर दो लाख जहाँ जी चाहे वहीं सो जाएं घर रखे घर वाला अमीन अंकल आपको भी घर भर की कोई तकलीफ है नहीं अभी तो नहीं है तो जल्दी से आगे बढ़िए लेकिन मैं आपको सुनाती हूँ 1959 के गीत नंबर 19 की झलक फिल्म उजाला से तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया क्या देखा दिल तेरा हो गया सोचते ही सोचते सवेरा हो गया बहनों और भाइयों उन दिनों मचलते खिलखिलाते गीत भी उतने ही मधुर लगा करते थे जितने दिल में उदासी की परछाइयां ले आने वाले गीत जैसे फिल्म कन्हैया का ये गीत जो था पादान नंबर 18 पर मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो मुझे मेरे हाल और क्या बोलूं मैनोर भाइयों गीत सुनकर मेरे दिल पर भी उदासी छा गई और यहाँ उदास होने का एक कारण और भी तो है वो ये कि अब आज के इस वॉल्यूम के लिए 1959 की बस एक झलक और बाकी रह गई है उसके बाद ये वॉल्यूम भी खत्म हो जाएगा और गीत माना तुम्हारा भी तो साथ फिर एक बार छूट जाएगा मेरा साथ छूट जाएगा कि, कि, कि, क्या मतलब यानी आप तो गीत माला में 45 साल तक बस बोलते ही रहे मुझे चुप करा और गीत माला की छाव में भी मुझे सिर्फ ग्यारहवें वॉल्यूम में जाकर याद किया और अब फिर मेरा मुंह बंद करने की सोच रहे हैं नहीं नहीं वो वो, वो अरे अरे अरे कुछ नहीं आपने मुझे अगर अगले वॉल्यूम में ना बुलाया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी कितने खराब हैं आप अमीन अंकल नहीं नहीं मेरी गीत माला गुस्सा छोड़ो तुम तो हमेशा मेरे दिल में बल्कि सभी संगीत प्रेमियों के दिल में रहती हो तुम्हें मैं कैसे नाराज कर सकता हूँ बल्कि ये देखो उन्नीस की पायदान नंबर सत्रह का गीत जो आज का आखिरी गीत है फिल्म सुजाता का ये समझो कि सारे संगीत के रसिया कह रहे हैं अपनी प्यारी गीतमाला के लिए यानी तुम्हारे लिए जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए मीना अंकल आप जरा आराम कीजिए ना आपको याद नहीं क्या? गीतमाला की छाव में के वॉल्यूम नंबर एक में आप ही ने तो बताया था कि एक बार किशोर कुमार की आवाज ने आपको कैसे टोका था अमीन भाई तुम बहुत बहुत बहुत बोर करने लगे हो ओहो क्या बात है गीतमाला जी यानी मेरी ही बिल्ली मुझसे ही म्याओ म्याओ म्याओ कुछ नहीं हा? ये देखिए ये आई उन्नीस के गीत नंबर सोलह की झलक चल रहे हम चल रहे हैं मगर दुनिया वालों के दिल रहे हो हम चल रहे हैं के दिल चल रहे और दुनिया न माने के गीत से ऊपर नंबर पंद्रह पर उस साल गीत था फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ का टिम करते तारे ये कहते हैं सारे पूजा तो है सपन में करते तारे ये कहते हैं सारे अरे भाई यहाँ तो मुझे कुछ कहना ही पड़ेगा क्यों क्यों अरे क्योंकि मेरे पास एक बड़ा प्यारा छोटा सा इंटरव्यू है माना मीना कुमारी की आवाज में राजेंद्र कुमार के बारे में क्योंकि यही तो थे उस फिल्म के हीरो हीरोइन हैं अफसोस के अब तो दोनों ही नहीं रहे राजेंद्र साहब बड़े खुश अखलाक और मिलनसार आदमी हैं उनके किरदार का सबसे रोशन पहलू यही है कि इतने उरूज पर पहुंचने के बाद भी वो अपने शुरू शुरू के तकलीफ के दिन नहीं भूले शायद इसीलिए उन्हें दूसरों के दुख दर्द और दूसरों की तकलीफों का कुछ ज्यादा ही एहसास होता है मेरी बीमारी के दौरान में नरगिस बाजी और सुनील साहब के अलावा फिल्म वालों में से अगर किसी को मेरी फिक्र थी तो वो राजेंद्र जी ही थे मेरे लंदन जाने से पहले वो मेरे पास आए थे हमदर्दी का इजहार किया था और मेरी सेहत की दुआ मांगी थी खैर अमीन अंकल अब फिर पकड़िए स्पीड क्योंकि आज मैं कोशिश में हूँ कि जब छाओ के गीत शुरू हो हम्म। तो कम से कम बारह गीत तो बजे ही बजे अच्छा भाई बहुत तेज तेज बढ़ना हो आगे तो आओ उन्नीस की चौदहवीं सालाना पायदान पर बैठ जाओ फिल्म छोटी बहन की रिक्शा में महमूद के साथ मैं रिक्शा वाला मैं रिक्शा वाला है चार के बराबर ये दो टांग वाला कहाँ चलोगे बाबू कहाँ चलोगे लाला कहाँ चलोगे बाबू कहाँ चलोगे लाला मैं रिक्शा वाला मैं रिक्शा वाला और अब उन्नीस की वार्षिक माना की पायदान नंबर तेरह की झलक को मैं देता हूँ आवाज एक हमें आवाज न देना देख हमें आवाज देना ओ बेदर्द जमाने ओ बेदर्द जमाने आज चले हम छोड़ के तुझको दुनिया नई बसाने ओ बेदर्द जमाने और अमीन अंकल हाँ। उस साल नंबर बारह पर कौन थी कौन थी हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा यानी चलती का नाम गाड़ी की मधुवाला हम्म, एक लड़की भीगी भागी थी रातों में भागी थी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है वाह भाई क्या जोड़ी जमी थी मधुवाला और किशोर कुमार की दोनों बड़े प्यारे बड़े हसमुख और इसके बाद तो दोनों की शादी भी हो गई मगर तुम जानती हो गीतमाला हम्म? जल्द ही उस शादी पर एक फिल्म की नजर लग गई क्या मतलब भाई ये मैं आज इतना ही बताऊंगा कि उसके बाद बहुत जल्द मधुबाला का देहांत हो गया